बेशक वो अल्लाह बुलंदावाज से की हुई बात को जानता है और वो भी जानता है जो तुम छुपाते हो